सल्तनत सलजोकिया के दारुल हुकूमत मरू में सालार औरेजी की कामयाबी की दुआएं तो होती ही रहती थीं लेकिन सुल्तान के महल में मायूसी भी पैदा होने लगी थी मुहासरे को आठ महीने गुजर चले थे और वसमकोह से अमवात की जो इतलाएं आती रहती थीं वह हौसला शिकन थीं आखिर मुजम्मिल और बिन यूनुस 2000 घुड़सवार लेकर एक खास मंसूबे के तहत गए तो मायूसी में कमी आने लगी लेकिन अभी तक वसमकोह से कोई इतला नहीं आई थी सुल्तान बरकैरक और उसके दोनों भाई मोहम्मद और संजर सुबह उठे तो सबसे पहले ये पूछते कि वसम कोह से कोई कासिद आया है या नहीं आखिर एक रोज कासिद आ गया और वो बाजू लहरा लहरा कर ऐलान करता चला आ रहा था कि वसम कोह का किला फतह कर लिया गया है और बातिनियों का नामो निशान मिट गया है सुल्तान तक खबर नहीं पहुंची थी कि यह जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई शहर में जश्न का सा समा हो गया था और जब यह खबर सुल्तान के महल में पहुंची तो वहां भी खुशियां नाचने लगीं शिमोना और उसकी माँ मैमुना भी दौड़ी दौड़ी सुल्तान रख तक गईं सुल्तान के महल में शिमोना को खसूसी हैसियत हासिल हो गई थी मैं वहां खुद जाऊंगा सुल्तान रख ने कहा उन मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं खुद वहां जाऊंगा यह फतेह कोई मामूली फतेह नहीं मैं भी साथ जाऊंगी सुल्तान मोहतरम शिमोना जो पास ही बैठी हुई थी बोली मैं हसन बिन सबा के पैरोकारों की लाशें और उनकी हड्डियां देखना चाहती हूं शिमोना दरअसल मुजम्मिल आफंदी के लिए परेशान थी मुजम्मिल और शिमोना ने अहद कर रखा था कि पहले हसन बिन सबाह का बेड़ा कर करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे मुजम्मिल ने एक फतेह हासिल कर ली थी सुल्तान बरख्यारक ने शिमोना को इजाज़त दे दी कि वो उसके साथ जा सकती है जिस वक्त सालार औरेजी का लश्कर और वो घुड़सवार लश्कर जिसे मुजम्मिल आफंदी लेकर गया था वसमकोह के बाहर बातिनियों को घेरे में ले चुके थे तो ऐसी घुमसान की लड़ाई हुई थी कि किसी को किसी का होश न रहा था उस क़यामत खेजी में तीन बातिनी लड़ाई से निकल गए तीनों जख्मी थे उन्होंने किले अलमूद का रुख कर लिया वो हसन बिन सबा को बताना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ है हसन बिन सबा तो जैसे किले वसम कोह को भूल ही गया था वो कभी पूछ लेता था कि वसम कोह का मुहासिरा टूटा कि नहीं उसे हर बार अच्छी खबर सुनाई जाती थी कि मुहासिरा टूटा भी नहीं और कामयाब भी नहीं हुआ और मुसलमानों के लश्कर का जानी नुकसान मुसलसल होता चला जा रहा है यह मुहासिरा कामयाब नहीं होगा हसन बिन सबाह हर बार यही कहता था एक दिन ये तीनों जख्मी किले अलमूद पहुंच गए और उन्हें फौरन हसन बिन सबाह के कमरे में भेज दिया गया उन्होंने कहा या इमाम हम धोखे में मारे गए हैं उन्होंने तफसील से सुनाया कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है और वो सलजोकी फौज की घुड़सवार कमक को अपनी फौज समझ बैठे थे और सलजोकियों की बातों में आ गए या शेख जबल एक मुशीर ने कहा अगर हम पहले ही मुहासरे पर हमला कर देते तो आज ये खबर ना सुनना पड़ती अब भी कुछ नहीं गया हमें इसी वक्त कूच कर जाना चाहिए और हम किला छुड़वा लेंगे मैं अपनी ताकत जाय नहीं करूंगा हसन बिन सबाह ने मुस्कुराते हुए कहा हमारे पास ऐसी फौज है ही नहीं जिससे हम हमला करें न मैं ऐसी फौज बनाऊंगा हमारा हर आदमी लड़ सकता है लेकिन हम फौज की तरह नहीं लड़ेंगे हमारे हर फिदाई के पास एक खंजर या एक छुरी होनी चाहिए इससे ज्यादा की कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास अभी चौदह किले हैं ये काफ़ी हैं सलजोकी सालार ने मुझे भी धोखा दिया था कि वह किले मलाज खान की तरफ पेश कदमी कर रहा है लेकिन मैंने तवज्जह नहीं दी और ना कभी तवज्जह दूंगा तो क्या हम इस नुकसान को बर्दाश्त कर लें या इमाम एक और मुशीर ने पूछा ज़रूरी नहीं कि हम एक किले के बदले किला ही लेंगे हसन बिन सबाह ने कहा हम उस किले की पूरी कीमत सुलझोकियों से वसूल करेंगे और वसमकों में हमारा जो मालो दौलत गया है वो भी हम पूरा कर लेंगे अब मेरी बात गौर से सुन लो और इसी वक्त उस पर अमल शुरू हो जाए अब अपने ग्रुह रे और शाहदर वाली शाहराह पर भेज दो वसमकोह की कीमत मुसलमान काफिलों से वसूल करो और वो जिस खजाने पर काबिज हो गए हैं उससे दुगना खजाना उनसे पूरा करो उन शहरों के अंदर किसी अमीर कबीर ताजिर या जागीरदार के घर डाका डालना पड़े तो ये काम भी कर गुजरो मुसलमानों की कत्ल गारत और तेज कर दो हसन बिन सबा के दिमाग को उसके वो मुशीर और मुसाहिब भी नहीं समझ सकते थे जो हर वक्त उसके साथ रहते थे वो बड़ाई नहीं हंका करता था और कोई बात गुस्से की हालत में बिला सोचे समझे जुबान पर नहीं लाता था उसकी फितरत में सिवाय इबलीसियत के और कुछ भी नहीं था उसे सही फैसले पर पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी उसकी फितरत उसके दिमाग की रहनुमाई करती थी उसने रे और शाहदर के इर्द गिर्द के इलाकों को रहजनी लूटमार और कत्लो गारत के लिए इसलिए मंतखब किया था कि रेतो मुसलमानों की अक्सरियत का शहर था और उस शहर का अलग हाकिम या अमीर था शहदर की अहमियत यह थी कि उस शहर में तकरीबन आधी आबादी मुसलमानों की थी और ये मुसलमान बातनियों से बाहम मुतसादिम रहते थे उसके अलावा शहदर में उसका उस्ताद अहमद बिन गताश रहता था और हसन बिन सबाह ने सिफली अमल और इबलीसियत की तरबियत यहीं से हासिल की थी और उसकी इमामत का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था इसे यह भी मालूम था कि सलजोकी सुल्तान की नज़र शाहदर पर लगी रहती है और किसी भी रोज़ शाहदर पर सलजोकी हमला कर देंगे अबू जंदल पेशावर डाकू था और उसका असर और रसूख चलता था उसके ग्रुह का कोई एक भी आदमी जिंदा नहीं रहा था लेकिन वह फिर भी इंतजाम कर लेता था वसम कोह की जो सूरत हाल बनी हुई थी उसमें इंतजाम कर लेना कोई मुश्किल नहीं था वहां अंदर और बाहर लाशें ही लाशें थीं और उन लाशों में अभी तक जख्मी बेहोश पड़े थे जिन्हें मरा हुआ समझा जा रहा था शहर की औरतें और बच्चे उन लाशों को पहचानते फिर रहे थे सलजोकी फौज के आदमी भी अपने सालारों के मुताबिक उन लाशों में मुसलमानों की लाशें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे सूरज गुरूब होने ही वाला था जब शमीर अबलक एक घोड़े पर सवार उन बिखरी हुई लाशों के इर्द गिर्द यूं फिर रहा था जैसे निगरानी कर रहा हो उसने घोड़े का रुख एक तरफ किया और आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चलाता कुछ आगे एक टेकरी की ओट में हो गया वहां उसने घोड़े को हल्की सी एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ा दिया उसके चारों सिपाही एक एक करके मुख्तलिफ सिमतों से निकले और इसी तरह दूर जाकर घोड़े दौड़ाए और उस जगह पहुंच गए जहां अबू जंदल पहले मौजूद था उसकी दोनों भतीजियां उसके साथ थीं और उसके साथ दो के बजाय तीन फालतू घोड़े थे वहां घोड़ों की कोई कमी नहीं थी लड़ाई में जो घुड़सवार मारे गए थे उनके घोड़े मैदान जंग से भागकर इर्द गिर्द के जंगल में चले गए थे सालार औरेजी के नौजवान घोड़ों को पकड़ पकड़ कर ला रहे थे लेकिन अबू जंदल ने उससे पहले ही तीन घोड़े पकड़ लिए और उस जगह ले गया था जो जगह उन सब ने मुकर की थी अबू जंदल ने शमीर अबलक से कहा था कि वो कमाने और तीरों के चार पांच तरकश भरे हुए होने चाहिए ये चारों सिपाही तजुर्बेकार तीरंदाज थे वो दो कमाने और पांच सात तरकश साथ ले गए थे उनके पास तलवारें थीं और बर्छियां भी थीं एक घोड़े पर खाने पीने का सामान लदा हुआ था जो बहुत दिनों के लिए काफी था वहां पानी की कमी नहीं थी वो जो ही इकट्ठे हुए अपनी मंजिल को चल पड़े उन्होंने घोड़ों की रफ्तार खासी तेज रखी वो इस कोशिश में थे कि सुबह होने तक वो इतनी दूर निकल जाएंगे कि ताकुब का खतरा ना रहे ताकुब का खतरा बहुत ही कम था क्योंकि ये सब जिस तरह एक एक करके वसमकोह से निकले थे उन्हें किसी ने देखा नहीं था वो जब इकट्ठे हुए थे तो उन पर शाम ने अपना धुंधला पर्दा डाल दिया था जो बड़ी तेजी से रात की तारीकी जैसा सिपा हो गया था उनके पास तीन चार मशलें भी थीं जो उन्होंने जलाई नहीं क्योंकि मशलों के शोले दूर से उनकी निशानदेही कर सकते थे उन मशलों की ज़रूरत मंजिल पर पेश आनी थी शमीर अबलक रास्ते में अबू जंदल ने कहा अगर तुम्हें मेरी नीयत पर शक है तो मेरी तलवार अपने पास रख लो ये दिल में बिठा लो कि हम अब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं हमारा अंजाम अच्छा होगा या बुरा वो हमसे किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा नहीं मेरे हम सफ़र शमीर अबलक ने कहा हम मुसलमान हैं अगर हम एक दूसरे के खिलाफ दिल में ज़रा सा भी शको शुबे या कदूरत रखेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकेंगे और अगर पहुंच गए तो इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सकेंगे एक बात और कहूंगा शमीर अबू जंदल ने कहा जिस तरह तुमने दिल से शको शुबह और कदूरत निकाल दी है उसी तरह दिल से यह भी निकाल दो कि तुम मुसलमान हो और मेरा मजहब या अकीदा कुछ और है मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं किसी मजबूरी के तहत हसन बिन सबाह का पैरोकार बना था मैं उसे धोखा देता रहा हूं तुम भी मजहब की इस लकीर को मिटा डालो अगर ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं तो मुझे भी मुसलमान समझ लो हाँ अबू जंदल शमीर अबलक ने कहा यह मेरे लिए मुश्किल है कि मजहब की लकीर को मिटा डालूं इससे ज्यादा बेहतर यह है कि मैं तुम्हें मुसलमान समझूं और तुम भी अपने आप को दिली तौर पर मुसलमान समझते रहो अपने आप को फरेब ना दो शमीर अबू जंदल ने कहा तुमने शायद अभी महसूस नहीं किया कि तुम अब नाम के मुसलमान रह गए हो दिल पर जब जरो जवाहरात का और खूबसूरत औरत का कब्जा हो जाता है तो दिल में मजहब पुराने जख्म की निशान की तरह बाकी रह जाता है अब अपने आप को यह धोखा ना दो कि तुम वो मुसलमान रह गए हो जो वसम को की रवानगी से पहले हुआ करते थे मैंने तुम्हें उस रात को भी कहा था जब हम पहले मिले थे कि हसन बिन सबह ने जो जन्नत बनाई है वो आर्जी है यह शख्स मर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जन्नत भी उजड़ जाएगी और वो जन्नत जिसका वादा तुम्हें खुदा ने दिया है वो आसमानों में है और मालूम नहीं कि है भी या नहीं जन्नत वही होती है जो इंसान अपने हाथों बनाता है मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना दूंगा शमीर अबलक लश्करी था या उसे मुजाहिद कह लें आलिम दीन नहीं था कि यह फलसफा समझ सकता कि इंसान माल और मजहब में से एक ही चीज का पुजारी हो सकता है मुसलमान के लिए मालदार होना गुनाह नहीं बल्कि दिल में मालो दौलत का लालच रखना ऐसी गुमराही है कि इंसान सिरात मुस्तकीम से हट जाता है वो अपने मज़हब को भी दिल में ज़िंदा रखना चाहता था लेकिन यह हकीकत कबूल नहीं कर रहा था कि दिल में जब ज़ोर जवाहरात की चमक आ जाती है तो उस दिल में से दीन की शमह बुझ जाया करती है शमीर अबलक मसरूर और मुतमिन चला जा रहा था फासले कम हो रहे थे और रात गुजरती जा रही थी सुबह तुलू हुई तो दुनिया ही बदली हुई थी हरा भरा जंगल और सरसब्ज टेकरियां दूर पीछे रह गई थी और वो ऐसे इलाके में दाखिल हो गए थे जहां दीवारों की तरह छोटी बड़ी पहाड़ियां और चट्टानें खड़ी थीं उनका रंग कहीं स्लेटी कहीं मिटियाला और कहीं सियाही माहिल था उनकी शक्लें भी अजीब गरीब थी अबू जंदल उस इलाके से वाकिफ था और उसमें से गुजरने का रास्ता भी जानता था शमीर अबलक और उसके सिपाहियों के लिए यह इलाका और उसके खदोखाल डरावने से थे कहीं कहीं एक आध दरख्त खड़ा नजर आता था वरना वहां घास की पत्ती भी नजर नहीं आती थी ये तो जिन्नात और बदरोहों का देश मालूम होता है शमीर अबलक ने अबू जंदल से कहा मैंने ऐसा भद्दा और डरावना इलाका पहले कभी नहीं देखा था हाँ शमीर अबू जंदल ने कहा लोगों में यही मशहूर है कि इस इलाके में बदरूहें और चुड़ैलें और जिन्नात रहते हैं मालूम नहीं ये कहाँ तक सच है लेकिन इसके अंदर जहरीली चीज़ें रहती हैं अब हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए ताकुब का खतरा ख़त्म हो गया है यह सारा इलाका पथरीला था उसके अंदर जाकर अबू जंदल ने एक जगह देखी जो ज़रा हमवार थी और वहाँ पत्थर भी कम थे वहाँ दो दरख्त भी थे जिनकी सिर्फ शाखें थीं पत्ता एक भी नहीं था उन्होंने घोड़े उन दो दरख्तों के साथ बांध दिए और अलग हटकर बैठ गए रात भर के जागे हुए मुसाफिर जमीन पर लेट गए और कुछ ही देर बाद गहरी नींद सो गए अचानक एक घोड़ा बड़ी जोर से हिनहिनाया और तमाम घोड़े इस तरह हिनहिनाने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आ पड़ा हो उनके सवार जाग उठे और देखा कि घोड़े रस्सियां तुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी उछल कूद से पता चलता था कि उन्होंने कुछ देख लिया है वो सब दौड़कर गए और देखा दस बारह कदम दूर एक सियाह काला नाग आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था सांप को देखकर हर जानवर उसी तरह डर जाता और भाग उठता है बाज घोड़े तो सांप को देखकर चलते चलते रुक जाते हैं और इस तरह कांपने लगते हैं कि अभी गिर पड़ेंगे अबू जंदल ने एक कमान उठाई और उसमें तीर डाला सांप पर तीर चलाया लेकिन तीर उसके करीब लगा सांप को भाग जाना चाहिए था लेकिन वो रुक गया और उसने फन फैला दिया और फुंकारने लगा इससे उसके गुस्से का इजहार होता था एक सिपाही ने अबू जंदल के हाथ से कमान ले ली और उसमें तीर डालकर चलाया तो शाम के फन के पार हो गया शाम कुछ देर लोटपोट होता रहा और फिर बेहिसो हरकत हो गया आसमान पर गहरे बादल तो पहले ही मंडला रहे थे लेकिन इन मुसाफिरों को मालूम ना था कि जिस बेआबो गिया पहाड़ी के दामन में उन्होंने पड़ाव किया है उसके पीछे से सियाह काली घटा उठती आ रही है उधर सांप मरा इधर बड़ी जोर की गरज सुनाई दी और फिर बिजली और उसके साथ ही उसकी ऐसी कड़क सुनाई दी जैसे चट्टान टूट फूट गई हो सबके दिल दहल गए घोड़े जो सुकून में आ गए थे फिर बिदकने लगे बिजली रह रह कर चमकती और कड़कती थी यूं मालूम होता था कि बिजलियों को उस काले नाग की मौत पर गुस्सा आ गया हो आसमान बड़ी तेजी से तारीख होने लगा और घटा देखते ही देखते आसमान के खूबसूरत बादलों के टुकड़ों को निगलती आगे ही आगे बढ़ती गई और जब बारिश शुरू हुई तो लगता था घटा का सीना फट गया हो ऐसी मौसलाधार बारिश के एक हाथ दूर कुछ नजर नहीं आता था और जलथल हो गया था वहां बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी अबू जंदल ने उन्हें बताया कि यहां गार हैं लेकिन खासा आगे हैं जहां तक हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे इतनी देर में यह घटा आगे निकल जाएगी वो वहीं खड़े रहे और बारिश के कतरे उन पर इस तरह पड़ते रहे जैसे कोई कंकरियां मार रहा हो यह शाम किसी की बदरूह मालूम होती है एक सिपाही ने कहा इसे तीर लगा ही था कि हम पर यह तूफान टूट पड़ा किसी वहम में ना पड़ो मेरे दोस्तों अबू जंदल ने कहा मैं इस इलाके में से इतनी बार गुजरा हूं कि मुझे याद ही नहीं रहा और यूं लगता है जैसे ये मेरी जिंदगी का रास्ता है डरो नहीं बारिश थम जाएगी मैंने इतनी जोर बारिश पहले कभी नहीं देखी थी शमीर अबलक ने कहा शमीर भाई अबू जंदल ने उसे बड़ी ही धीमी आवाज में कहा जैसे वो रास की बात कर रहा हो मैं डराना नहीं चाहता लेकिन ये सुन लो कि ये काला सांप और ये काली घटा और यूं कड़कती हुई बिजलियां अच्छा शगुन नहीं खुदा करे हमारी मुहिम कामयाब हो जाए लेकिन सफ़र की इब्तदा अच्छी नहीं हुई मैं दुआ करूंगा शमीर अबलक ने कहा खुदा हमेशा मेरी दुआ सुन लिया करता है तुम पहले की बातें करते हो अबू जंदल ने कहा अब खुदा तुम्हारी नहीं सुनेगा अब कोई मुसीबत आ पड़े तो मुझे बताओ या खुद उसका मुकाबला करो तुम खुदा के रास्ते से हट गए हो अब मेरी तरह ज़िंदगी गुजारो डेढ़ दो घंटों बाद बारिश थमने लगी और घटा कुछ तो बिखर गई और बाकी जो थी वो आगे निकल गई कम होते होते बारिश रुक गई और उन लोगों ने चलने का इरादा किया लेकिन वहां पानी ही पानी जमा हो गया था यह जगह कुशादा तो थी लेकिन वो चट्टानों के दरमियान में होने की वजह से दरिया बन गई थी सब घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े आगे गए तो जगह तंग होती चली गई क्योंकि दोनों तरफ ही चट्टाने एक दूसरे के करीब आ गई थीं वहां पानी इस तरह आ रहा था जैसे सैलाबी दरिया हो पानी का बहाव बड़ा ही तेज था अबू जंदल ने कहा कि यह पानी गहरा नहीं है कि इसमें कोई डूब जाए लेकिन घोड़ों के लिए उसमें चलना खासा मुश्किल होगा घोड़े यूं तो आगे बढ़ते जा रहे थे पानी का जोर ज्यादा ही होता जा रहा था और नज़र ऐसे ही आता था कि घोड़े आगे नहीं जा सकेंगे लेकिन पानी कम होने लगा और आगे जगह भी जरा खुली सी आ गई जिससे पानी फैल गया और घोड़े निकल गए यह पथरीला और चट्टानी इलाका खत्म होने में ही नहीं आ रहा था चट्टानों के दरमियान चलते चलते आधा दिन गुजर गया और आगे जाकर इन दो चट्टानी पहाड़ियों में जिनके दरमियान वो जा रहे थे रास्ता ही ना रहा क्योंकि दोनों पहाड़ियां आगे जाकर मिल गई थी अबू जंदल उस रास्ते से वाकिफ था वो आगे आगे जा रहा था उसने अपना घोड़ा दाएं तरफ कर लिया और पहाड़ी के दामन में चला गया वहां कोई रास्ता नहीं था लेकिन घोड़े पहाड़ी चढ़ सकते थे अबू जंदल का घोड़ा पहाड़ी चढ़ने लगा लेकिन सीधा ऊपर जाने के बजाय पहलू के साथ साथ चढ़ रहा था बाकी घोड़े उसके पीछे पीछे कतार में जा रहे थे शमीर अबलक और उसके सिपाहियों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था वो फौज के आदमी थे और फौजी घुड़सवारी की महारत रखते थे लेकिन ऐसी घुड़सवारी उन्होंने कम ही कभी की थी पहाड़ी पथरीली थी और घोड़ों के पांव फिसलते थे ऊपर जाते जाते वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां घोड़ा बमुश्किल पांव रख सकता था ये उस पहाड़ी का एक हिस्सा था जो उसके सामने था यूं लगता था जैसे बहुत ऊंची दीवार है और घोड़े उस दीवार पर जा रहे हों या इस तरह जैसे बाजीगर रस्से या तार पर चला करते हैं किसी घोड़े का पांव जरा सा फिसल जाता तो दाएं या बाएं सवार समेत लुढ़कता हुआ दूर नीचे जा पहुंचता और सवार की हिड्डी पसली एक हो जाती ज्यादा मुश्किल दोनों लड़कियों को पेश आ रही थी उन्होंने घोड़सवारी तो कई बार की थी लेकिन वो इतनी माहिर नहीं थी दाएं बाएं मत देखो अबू जंदल ने आगे चलते हुए बुलंद आवाज से कहा यह समझो कि घोड़े मैदान में चले जा रहे हैं वरना डर से कांपते कांपते घोड़ों से गिर पड़ोगे यूं लगता था जैसे सवार नहीं बल्कि घोड़े डर रहे हों वो तो फूंक फूंक कर कदम रखते थे और उनके जिस्मों की हरकत बता रही थी कि गिरने से डर रहे हैं और शायद आगे जाने से इनकार ही कर दें किसी का घोड़ा रुक जाए तो लगाम को झटका ना देना अबू जंदल ने एक और ऐलान किया ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदक कर अपने पांव दाएं या बाएं रख दे आखिर उस पहाड़ी की यह चोटी जरा चौड़ी होने लगी लेकिन अब भी हमवार नहीं थी इसलिए घोड़ों के पांव फिसलते थे आगे जाकर यह चोटी ज्यादा चौड़ी हो गई और अब घोड़े दूसरी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे खतरनाक हिस्सा खत्म हो गया था और अब जहां घोड़े चल रहे थे यह खासी चौड़ी जगह थी और यह पिछला पहाड़ था जिसके ऊपर जाकर आगे नीचे उतरना था यह काफिला पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और अबू जंगल ने घोड़ा रोक लिया वहां ऊपर इतनी लंबी और चौड़ी जगह थी कि सभी घोड़े पहलू बा पहलू खड़े हो गए नीचे देखा तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर आया हरा भरा जंगल था दरख्तों की चोटियां नजर आ रही थीं और उदे उदे बादल मंडला रहे थे मगरिब की तरफ सूरज कुछ नीचे चला गया था और उसकी किरणें दरख्तों पर पड़ती थीं तो बारिश के कतरे चमकते थे किसी आबादी का दूर दूर तक निशान ना था इस खूबसूरत मंजर के दाएं बाएं जरा ऊंची पहाड़ियां थीं लेकिन बहुत ही दूर दूर उन पर भी सब्जा और दरख्त थे सुबहान अल्लाह शमीर अबलक ने बेसाख्ता कहा यह तो जन्नत का एक हिस्सा मालूम होता है अल्लाह ने इस खत्ते को कैसा हुस्न बख्शा है अल्लाह का दिया हुआ यह हुस्न बड़ा ही खतरनाक है शमीर भाई अबू जंदल ने कहा यहां से देखने से तो ये जन्नत का टुकड़ा ही लगता है और यह कोसों दूर तक फैला हुआ है लेकिन इसमें वो शेर पाया जाता है जिस पर लंबी लंबी धारियां होती हैं उसमें भेड़िए भी होते हैं जो अकेले दकेले नहीं बल्कि आठ आठ दस दस के ग्रोहों में हमला करते हैं यहां अपनी बर्चियां और तलवारें तैयार रखना इस खत्े के अंदर कोई आबादी नहीं आबादियां बहुत दूर हैं यहां कभी कोई शिकारी भी नहीं आया इसलिए शेरों की तादाद बढ़ती जाती है कम नहीं होती पहाड़ी से उतरना चढ़ने से ज्यादा खतरनाक लगता था घोड़े आखिर उतर गए और इस खूबसूरत खत्ते में दाखिल हो गए हर तरफ पानी ही पानी था सूरज गुरूब होने के लिए उफक तक पहुंचने ही वाला था और उन लोगों ने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था वहां कोई खुश्क जगह नजर आती नहीं थी लेकिन अबू जंदल उन इलाकों से वाकिफ था इसलिए वो जरा सा भी परेशान नहीं लगता था उसने अपने काफिले से कहा कि अब दिन और रात का खाना एक ही बार खाएंगे और एक जगह मुझे मालूम है जहां हम रात आराम भी करेंगे वो चलते चले गए जंगल कुछ कम घना होता जा रहा था और अब जो जमीन आ गई थी उसमें ऊंचे नीचे टीले थे और घाटियां भी थीं कई नशीबी जगहों पर पानी भरा हुआ था एक जगह बाएं तरफ एक टीला था जो दीवार की तरह ऊंचा चला गया था और उसकी शक्ल नीम दायरे जैसी थी उसके वस्त्र में एक गार साफ नजर आ रहा था जिसके आगे मिट्टी का ढेर जम गया था उनके सामने पानी जमा था जो ज्यादा लंबाई चौड़ाई में नहीं था वो गार देखते हो अबू जंदल ने आगे आगे जाते पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा वहां शेर रहते हैं और उसे कछार कहते हैं हो सकता है इस वक्त शेर अंदर मौजूद हों वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी क्या शेर हम इतने आदमियों पर हमला करेगा शमीर अबलक ने पूछा अगर भूखा हुआ तो अबू जंदल ने कहा शेर का पेट भरा हुआ हो तो उसके करीब से गुजर जाओ तो भी वो कुछ नहीं कहेगा उस वक्त ये सब इस तरतीब में जा रहे थे कि अबू जंदल सबसे आगे था उसके पीछे दोनों लड़कियों के घोड़े थे फिर शमीर अबलक का घोड़ा था और उसके पीछे सिपाही थे तीन घोड़ों की जीनों के साथ तीन फालतू घोड़ों की रस्सियां बंधी हुई थीं और वो पीछे पीछे चले आ रहे थे अबू जंदल अभी उन्हें बता ही रहा था कि शेर भूखा ना हो तो वो हमला नहीं करता के पीछे से ज़बरदस्त आवाज़ें सुनाई दी जिनमें एक ये थी कि एक घोड़ा बहुत ही बुरी तरह हिनहिनाया और उसके साथ ही गुर्राहट सुनाई दी सबने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा ही खौफनाक मंजर नजर आया एक धारीदार शेर ने आखिरी खाली घोड़े पर हमला कर दिया था और शेर की पोजीशन ये थी कि उसने ऊपर से घोड़े की गर्दन अपने मुंह में ले रखी थी और उसे भिंबोड़ रहा था यह घोड़ा एक सिपाही के घोड़े के पीछे बंधा हुआ था सिपाही का घोड़ा डरकर दौड़ पड़ा लेकिन शेर ने उसके साथ बंधे हुए घोड़े को बड़ी मजबूती से दांतों में जकड़ रखा था शमीर अबलक ने निहायत फुर्ती से अपना घोड़ा पीछे मोड़ा और एड़ लगा दी सिपाहियों के हाथों में बर्छियां थीं शमीर अबलक ने सिपाही के हाथ से बर्छी छीन ली और शेर के करीब से गुजरते हुए बर्छी पूरी ताकत से मारी जो शेर की पीठ में उतर गई घोड़े की गर्दन से शेर के दांत उखड़ गए और शेर पीठ के बल गिर पड़ा शमीर अबलक ने आगे जाकर घोड़ा रोका और पीछे को मुड़ा शेर एक ही बर्छी के वार से नहीं मरा करता जख्मी होकर वो आखिरी वार किया करता है शेर बर्छी का जख्म खाकर पीठ के बल गिरा और तेजी से उठा शमीर अबलक ने बर्छी उसकी पीठ से निकाल ली थी शेर जख्मी हालत में बहुत ही खतरनाक होता है शेर ने शमीर अबलक को अपनी तरफ आते देखा तो उस पर झपटने के लिए दौड़ा लेकिन अपने घोड़े को मोड़कर उसके करीब पहुंच चुका था उसने शेर को फिर बर्छी मारी जो उसकी गर्दन में उतर गई उधर से शमीर अबलक ने घोड़े को एड़ लगाई और शेर के करीब से गुजरते उसे बर्छी मारी उस वक्त शेर पहलू के बल हो गया था शमीर अबलक की बर्छी उसके पहलू में दाखिल हो गई शमीर अबलक ने बर्छी खींच ली और आगे जाकर घोड़ा फिर मोड़ा लेकिन इतने में दूसरे सिपाहियों ने बर्छियों से शेर को बेबस कर दिया और शेर उठ ना सका जिस घोड़े पर शेर ने हमला किया था वो ठीक हालत में मालूम नहीं होता था वो जख्मी भी हो गया था और खौफजदा इतना कि भागने के लिए रस्सी तोड़वाने की कोशिश कर रहा था अबू जंदल ने आकर उसकी रस्सी खोल दी घोड़ा इतना डरा हुआ था कि एक तरफ सरपट दौड़ पड़ा घोड़ों के मुतालिक तो तुम सब कुछ ज़रूर जानते होगे अबू जंदल ने कहा लेकिन तुम शायद देख ही नहीं सके थे कि यह घोड़ा अब हमारे काम का नहीं रहा उसकी गर्दन की हड्डी अगर टूटी नहीं थी तो हिल जरूर गई थी तुमने देखा नहीं कि घोड़ा गर्दन ऊपर नहीं उठा रहा था और फिर यह इतना डर गया था कि हम उसे साथ रखते तो हमारे लिए मुसीबत बना रहता जाने दो उसे घोड़ा था तो खौफजदा ही लेकिन खौफजदगी की सबसे ज्यादा शिकार दो लड़कियां हुई थीं जो थर थर कांप रही थीं शमीर अबलग और उसके सिपाही फौजी थे वो मौत से डरने वाले नहीं थे और अबू जंदल ऐसा मर्द था जो उन जंगलों में से अक्सर गुजरा था और वो डाकू था जो जिंदगी और मौत का खेल ना जाने कब से खेल रहा था अबू जंदल उन्हें कुछ और आगे ले गया और ऐसी जगह जाकर रुका जहां ऐसा ही एक टीला था और टीले के अंदर किसी ने खुदाई करके चौकोर सा कमरा बना रखा था और यह मुसाफिर के रुकने और क्याम करने के काम आता था अबू जंदल ने उन्हें बताया कि उस इलाके में से कभी कोई मुसाफिर नहीं गुजरा काफिलों के रास्ते बहुत दूर थे उन इलाकों में काफिलों को लूटने वाले ही आया करते थे वो उस जगह गए और खाना खाने लगे सूरज غروب हो गया और शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में तब्दील हो गया तो उन्होंने मशलें जलाकर उस गार के सामने ज़मीन में गाड़ दी ये मशलें रोशनी के लिए नहीं बल्कि दरिंदों को डराने और उन्हें दूर रखने के लिए बाहर गाड़ी गई थी एक बात बताओ अबू जंदल शमीर अबलक ने पूछा तुमने अपना ख़जाना ऐसी जगह क्यों रखा हुआ है जहां तक पहुंचने के लिए मौत के मुंह में दाखिल होना पड़ता है खजाने ऐसी ही जगहों पर रखे जाते हैं अबू जंदल ने जवाब दिया अगर इतने ज़्यादा ज़रो जवाहरात और इतनी ज़्यादा रकमें घरों में रखी जाएं या आबादियों के करीब कहीं ज़मीन के अंदर छुपाती जाएं तो डाकू उससे वाकिफ़ हो जाते हैं और फिर ख़जाने के मालिक की ज़िंदगी दो चार दिन ही बाकी रह जाती है उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसका ख़जाना कातिल ले उड़ते हैं पुराने ज़माने की कई कहानियों में बादशाहों और डाकुओं के मुतालिक ये ज़रूर पढ़ा या सुना जाता है कि फ़लां बादशाह या फ़लां डाकू ने फलां जगह अपना खजाना दबाकर रख दिया था उन कहानियों से पता चलता है कि खजाने ऐसी जगहों पर ले जाकर छुपाए जाते थे जहां तक पहुंचना बाज औकात नामुमकिन हो जाता था बहरी कजाक तो अपने खजाने और ही ज्यादा दुशवार गुजार इलाकों में ले जाकर कहीं छुपाया करते थे कहीं उनकी जिंदगी समंदर में गुजरती थी लूटमार करके कभी कभी खुशकी पर आया करते थे खजानों के मालिक अक्सर उस जगह तक रास्ते का नक्शा बनाकर अपने पास रखते थे जिस जगह वो खजाना दबाते थे बाज अवकात मालिक मर जाता और नक्शा किसी और के हाथ चढ़ जाता तो वो उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता था ऐसे मदफून खजानों के मुतालिक पुरसरार कहानियां भी सुनाई जाती थीं जो गलत मालूम नहीं होती आमतौर पर कहानियों से यह पता चलता है कि मालिक खुद या उसके बाद कोई और खजाना निकालने गए तो वहां उन पर ऐसी मुसीबत नाजिल हुई कि वो मारे गए या आपस में लड़ पड़े और उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया उन कहानियों को फर्जी और अफसानवी समझा जाता रहा है और उनमें अक्सर अफसानवी ही हुआ करती हैं लेकिन अबू जंदल और शमीर अबलक की कहानी को तारीख में जो मुकाम मिला है इससे साफ जाहिर होता है कि कम अज़ कम ये एक सच्ची कहानी है उसे हसन बिन सबाह के दौर की एक अहम वारदात बनाकर गालिबा इसलिए तारीख में शामिल किया है कि लोग समझ सकें कि मालो दौलत और औरत की चकाचौंध अच्छे भले मर्द मोमिन को किन रफतों से गिराकर पस्तियों में गायब कर देती है रात वहां गुजारकर सुबह वो चल पड़े और आधा दिन गुजर जाने के बाद एक सैलाबी नदी ने उनका रास्ता रोक लिया अबू जंदल ने उन्हें बताया कि वो ऐसे वक्त यहां पहुंचे हैं जब नदी में सैलाब आया हुआ है वरना यह नदी तो बड़ी खूबसूरत और प्यारी है उसका पानी शफाफ और कम गहरा होता है जिसमें से घोड़े तो क्या आदमी भी आसानी से गुजर जाते हैं यह कहकर अबू जंदल ने अपना घोड़ा नदी में डाल दिया यह फौज का घोड़ा था जो सैलाब से लड़ता झगड़ता पार चला गया उसके पीछे बाकी घोड़ों ने भी नदी पार कर ली नदी इतनी गहरी हो गई थी कि चंद कदम घोड़ों को उसमें तैरना पड़ा था पार जाकर शमीर अबलक ने अपना घोड़ा अबू जंदल के साथ कर लिया शमीर भाई अबू जंदल ने कहा मुझे इन जंगलों में घूमने फिरने और उनमें से रास्ते बनाने का और फिर काफिले लूटकर इन्हीं जंगलों में गायब हो जाने का इतना ज़्यादा तजुर्बा है कि मैं हवा में ख़तरे की बू सूंघ लिया करता हूँ मैं इन्हीं जंगलों में से न जाने कितनी बार गुजरा हूँ इन खतरों से मैं हमेशा आगाह रहा हूँ लेकिन यूं नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है न कभी किसी बदरूह ने मेरा रास्ता रोका था न कभी शेर ने हमला किया था मैं यहां नाग भी देखता रहा हूँ और शेर भी और भेड़िए भी लेकिन मैं यहां से हर बार जिंदा गुजर गया हूँ यह पहला मौका है कि सफ़र की इब्तदा ही एक बहुत बड़े शगुन से हुई है फिर एक शेर ने हम पर हमला किया और फिर मासूम सी नदी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर क्या करना चाहिए क्या हमें वापस चले जाना चाहिए या इन खतरों से बढ़ते ही चले जाएं? मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं पेशावर कजाक हूं अबू जंदल ने कहा पेशावर कजाकों के अपने अकीदे और अपने वहम होते हैं हम पर जब खतरे मंडलाते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि ये खतरे हमें दबोच कर हमें ख़त्म कर देंगे तो हम एक कुंवारी लड़की की जान की कुर्बानी दिया करते हैं लेकिन यहाँ मैं ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता अगर ये दो लड़कियाँ मेरे मरे हुए भाई की बेटियाँ ना होती तो मैं इनमें से एक की कुर्बानी दे देता मैं इससे बेहतर ये समझता हूँ कि मंजिल तक पहुँच जाऊँ और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी दे दूँ मैं इसलिए खबरदार कर रहा हूँ कि हर वक्त चौकस और चौकन्ने रहना मालूम नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए इस जंगल के हुस्न को ही ना देखते रहना तुमने जिस तरह शेर मार लिया था इसी तरह हर खतरे से काबू पालोगे रात को सो भी इस तरह जैसे तुम्हारी एक आंख खुली हुई हो रात को मुझ पर भरोसा ना करना तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं रात हशीश पीकर सोता हूं और मुझे इस दुनिया की कोई होश नहीं रहती उस रात उस काफिले ने ऐसी जगह पड़ाव किया कि उन पर चंद एक दरख्तों का छाता और ऊपर आसमान था वो अलग अलग थोड़े थोड़े फासले पर सोए आधी रात से कुछ पहले शमीर अबलग को एक लड़की ने जगाया वो हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई खतरा आ गया हो लड़की ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं और वो उसके साथ थोड़ी दूर तक चले वो उठा और उसके साथ चल पड़ा चंद कदम दूर उस लड़की की दूसरी बहन एक दरख्त के तने की कोख में बैठी हुई थी ये दोनों भी उसके करीब बैठ गए उसका एक हाथ एक लड़की ने और दूसरा हाथ दूसरी लड़की ने पकड़ लिया दोनों लड़कियों ने उसके हाथ चूमे हमारे चचा से ना डरो एक लड़की ने कहा वो हशीश पीकर सोता है और सुबह होश में आता है हम दोनों सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि हम बाकी उम्र तुम्हारे साथ गुजारेंगी हमें लौंडिया बनाकर रख लो चाहे शादी कर लो और अगर तुम हमें दाश्ता बनाकर रखोगे तो भी हमें मंजूर है हम अपने चचा को अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद कराना चाहती हैं और हकीकत यह है कि तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम दोनों की खातिर तुम्हारे चचा के साथ आया हूं शमीर अबलक ने कहा वरना इस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था लेकिन हमें एक डर है दूसरी लड़की ने कहा तुम्हें जब खजाना मिल जाए तो तुम हमें भूल जाओगी ऐसा नहीं होगा शमीर अबलक ने कहा मैं डरता हूं कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे जाओ दोनों लड़कियों ने बड़े ही वालिहाना अंदाज से मोहब्बत का इजहार किया उनका रवैया ऐसा था जैसे दोनों ने अपना आप उसके हवाले कर दिया हो शमीर अबलग की एक ही बीवी थी जिससे उसके तीन बच्चे थे और उसकी उम्र चालीस बरस हो चुकी थी उस पर तो दोनों लड़कियों ने खुद फरामोशी की कैफियत तारी कर दी अबू जंदल तो हशीश के नशे में गहरी नींद सोया हुआ था शमीर अबलग पर उन लड़कियों के हुस्न का और उनकी जवानी का नशा तारी हो गया उसने चाहा कि बाकी रात ये लड़कियां इसी तरह उसके पास बैठी रहें और वो उनके नशे में बदमस्त होता चला जाए उसके जहन पर अगर अबू जंदल के खिलाफ कुछ थोड़ा सा शक रह गया था तो वो उन दोनों लड़कियों ने साफ कर दिया लड़कियां चली गईं और शमीर अबलग कुछ देर वहीं बैठा उन लड़कियों के तिलिस्माती ख्याल में खोया रहा इससे पहले सफ़र के दौरान ये लड़कियां उसे देख देख कर इस तरह मुस्कुराती रही थी जैसे वो उसे पसंद करती हूँ और उसके साथ अलग तन्हाई में बैठना चाहती हूँ उनका यही अंदाज शमीर अबलग को दीवाना बनाए हुए था मगर अब लड़कियां रात की तारीख तन्हाई में उसके पास आ बैठी और उसके इतना करीब हो गईं कि वो उनके जिस्मों की बूझ सूंघ सकता था वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया कहीं करीब से ही उसे भेड़ियों की लंबी हु की आवाज़ सुनाई दी ये आवाज़ें अचानक उठी थीं और तमाम भेड़िए एक ही बार बोलने लगे थे शमीर अबलक बेदारी के ख्वाब से एक लख्त हड़बड़ाकर बिल्कुल ही बेदार हो गया और उठ खड़ा हुआ तेज तेज कदम उठाता उस जगह पहुंचा जहां वो सोया हुआ था वहां लेटा और उसने बाकी रात जागते गुजार दी सुबह अभी धुंधली थी जब यह काफिला जागा और बड़ी तेजी से सामान समेटकर और घोड़ों पर जीने डालकर चल पड़ा जून जून सुबह का उजाला निखरता आ रहा था जमीन के खदोखाल बदलते जा रहे थे दरख्त बहुत कम हो गए थे और घास भी कम होती जा रही थी और थोड़ी ही दूर आगे जमीन ऐसी आ गई जैसे ना जाने कितनी मुद्दत से पानी की बूंद को तरस रही हो दरख्त तो कहीं कहीं नजर आते थे और ये दरख्त बिल्कुल खुश्क थे जिनके टहन तो थे लेकिन टहनियां नहीं थी झाड़ियां बिल्कुल खुश्क और खारदार थीं जमीन कटी फटी थी कहीं जमीन उभरी हुई थी और कहीं नशीब में चली जाती थी और कहीं टीले यूं खड़े थे जैसे जमीन पर गाड़े हुए मुकनी और भद्दे और बदसूरत से सुतून हो जमीन पर किसी घोड़े या ऊंट या किसी इंसान का ताज़ा या पुराना नक्शे पा ना था जिससे पता चलता था कि इधर से कभी कोई नहीं गुजरा और ये पहले इंसान हैं जो इस तरफ आ निकले हैं जून जून वो आगे बढ़ते गए मिट्टी रेत में तब्दील होती गई और दो तीन मील आगे गए तो लकोदक सहरा शुरू हो गया वहां भुरभुरे टीले भी थे और दो मंजिला मकान जितने ऊंचे रेत के ढेर भी थे और यूं लगता था जैसे कुदरत ने ये गोल गोल ढेर बड़ी मेहनत से लगाए हुए हों यह है सहरा का असल खतरा अबू जंदल ने अपने साथियों को बताया नावाकिफ मुसाफिर इन ढेरों में दाखिल हो जाता है और समझता है कि वो उनमें से निकल जाएगा लेकिन उनके अंदर ऐसी भूल भुलैया हैं कि बाज मुसाफिर उन ढेरों में से दो तीन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और समझते हैं कि उन्होंने बहुत फासला तय कर लिया है लेकिन वो वहीं के वहीं होते हैं हती के प्यास और फिर भूख उन्हें वहीं गिरा लेती है और रेत उनके जिस्मों से जिंदगी का रस चूस लेती है मैं उनसे वाकिफ हूँ इसलिए मैं जब भी इधर आया हूँ दूर का चक्कर लगा कर गया हूँ अबू जंदल उन्हें एक तरफ ले गया इस तरफ जमीन ऊपर ही ऊपर उठती जा रही थी नजर तो यूं आता था जैसे ये जमीन पक्की है और पांव के नीचे मिट्टी है लेकिन जब पांव रखते थे तो रेत में धस जाता था बुलंदी पर जाकर रेत की इन ढेरियों को देखा तो वो मीलों वसत में फैली हुई थी अबू जंदल अपने काफिले को दूर दूर से निकाल कर आगे ले गया सूरज सर पर आ गया तो आगे यूं नजर आता था जैसे जमीन जल रही हो और उससे शोले उठ रहे हों उनमें से आगे कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि ये शफाफ से शोले झिलमिल करते थे काफिला जूं जूं आगे बढ़ता जाता था ये झिलमिलाते हुए शफाफ शोले आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे प्यास एक कुदरती अमर था अबू जंदल ने पिछले पड़ाव से रवानगी से पहले ही पानी का जखीरा छोटे छोटे मिशकीज़ों में भर लिया था हर घोड़े के साथ एक मिशकीज़ा बंधा हुआ था सबने पानी पिया और चलते चले गए अबू जंदल ने उन्हें बताया कि यह रेगिस्तानी खत्ता शाम से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा और कुछ ही दूर आगे एक नखलस्तान आ जाएगा जहां रुककर खाना खाएंगे और थोड़ा सा आराम करके आगे चले जाएंगे सूरज जब मगरिब की तरफ चला गया तो दूर से खजूर के درخت नजर आने लगे घोड़े प्यास से बेचैन हुए जा रहे थे और थक भी गए थे क्योंकि उनके कदम रेत में धंस रहे थे आखिर नखलस्तान आ ही गया वहाँ पानी का छोटा सा तालाब था और खजूर के दरख्तों की इतनी अफराद के साया ही साया था हालांकि खजूर के दरख्त का साया बेकार होता है घोड़े सवारों के उतरते ही पानी की तरफ दौड़ पड़े और पानी पीने लगे काफिले ने खाया पिया पानी पिया और थोड़ा सा आराम कर लिया घोड़े पानी पी चुके थे ये लोग उठे और घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े घोड़े तो थके हुए लगते ही थे लेकिन उनके सवारों के चेहरों से पता चलता था कि खजाने का लालच ना होता तो वो वहीं थकन से गिर पड़ते और गहरी नींद सो जाते उनके जिसम तो जैसे टूट फूट गए थे ज़्यादा बुरी हालत लड़कियों की थी अबू जंदल उन्हें अच्छी अच्छी और पुर उम्मीद बातें सुनाता जा रहा था ताकि ये लोग जहनी तौर पर बेदार और मुस्ताद रहें आगे फिर वैसा ही सहरा था लेकिन कुछ आगे जाकर रेत मिट्टी में तब्दील होने लगी थी और वो अढ़ाई मील दूर हरे भरे दरख्त के नीचे आने लगे थे अबू जंदल आगे आगे जा रहा था उसने अचानक लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया और एक हाथ बुलंद किया जिसका मतलब यह था कि सब रुक जाएं। वो घोड़े से कूदकर उतरा और चंद कदम आगे जाकर जमीन पर झुक गया शमीर अबलग भी घोड़े से उतरा और उस तक पहुंचा ये देखो शमीर अबू जंदल ने जमीन की तरफ इशारा करके कहा क्या तुम कह सकते हो कि यह घोड़ों के निशान नहीं हां अबू जंदल शमीर अबलग ने कहा ये बिला शको शुबा घोड़ों के निशान हैं और ये निशान पुराने नहीं एक दो रोज पहले के लगते हैं अबू जंदल अपने घोड़े पर सवार होकर उस तरफ कुछ दूर चला गया जिधर से ये घोड़े आ रहे थे खुरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे कि घोड़े किधर से आए हैं और किधर गए हैं अबू जंदल रुक गया शमीर अबलग भी घोड़े पर सवार हुआ और उसके पीछे चला गया इधर से आम लोग नहीं गुजरा करते अबू जंदल ने कहा इधर किसी फौज के घुड़सवार नहीं आ सकते यह खिता सुल्तानों और बादशाहों और इमामों की दुनिया से बहुत दूर है मैं कहता हूं कि इस खत्ते पर खुदा का कहर बरसता रहता है इधर से कोई मुझ जैसा कजाक और डाकू ही गुजर सकता है हमें अब ज्यादा होशियार होकर आगे जाना पड़ेगा वो काफिले के बाकी अफराद को लेकर आगे चल पड़े और सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था वो फिर हरे भरे खत्ते में दाखिल हो गए अबू जंदल और शमीर अबलक रास्ते में जमीन पर देखते आए थे कि कदमों के और निशान भी मिलेंगे निशान मिले थे लेकिन वो दूसरी तरफ चले गए थे उन्होंने उस सरसब्ज जगह पर रात को पड़ाव किया जमीन खुश्क थी और घास बड़ी मुलायम और नरम थी अबू जंदल ने सिपाहियों से कहा कि वो चारों रात को इस तरह पहरा दें कि एक आदमी पहरे पर खड़ा रहे और दूसरे बारी बारी पहरा दें उसने ये भी कहा कि जो भी पहरे पर खड़ा हो उसके पास कमान और तरकश जरूर होने चाहिए अबू जंदल खतरा महसूस कर रहा था जिसकी निशानदही घोड़ों के उन कदमों के निशानों ने की थी जो उसने देखे थे खाने के बाद वो कुछ देर बातें करते रहे और जब सोने लगे तो एक सिपाही पहरे पर खड़ा हो गया उसने एक जगह खड़ा ही रहना नहीं था उन्होंने ऐसी जगह का इंतकाब किया था जहां आमने सामने दो हरी भरी टेकरियां थीं और एक टेकरी आगे थी पहरे वाले सिपाही को बताया गया था कि वो अपने पहरे के दौरान उन टेकरियों के पीछे भी जाए और ऊपर जाकर भी देखे और पूरी तरह बेदार रहे चारों सिपाहियों ने बारी बारी रात भर घूम फिर कर पहरा दिया और सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता निखरने लगा आखिरी सिपाही जो पहरे पर था वो एक टेकरी के पीछे था उसे गालिबन मालूम था कि उसके साथ ही देर से जागेंगे इसलिए उसने पहरे पर ही रहना बेहतर समझा उसे टेकरी के उस तरफ जिधर उसके साथी सोए हुए थे कुछ आवाजें और आहटें सी सुनाई दी वो समझा कि उसके साथी जाग उठे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलता टेकरी के उस सिरे पर आया जहां टेकरी खत्म होती थी वहां दो चौड़े तनों वाले दरख्त थे उसने जब अपने साथियों की तरफ देखा तो वहां कोई और ही मंजर नजर आया आठ आदमी थे जिन्होंने मुंह और सर सियाह पगड़ियों में लपेट रखे थे उन्होंने लंबे जुब्बे पहन रखे थे जो उनके घुटनों तक चले गए थे आठ घोड़े कुछ दूर खड़े घास खा रहे थे दो आदमियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ रखा था और बाकी आदमियों ने तलवारें हाथों में ले रखी थी और हरेक ने तलवार की नोक एक एक आदमी की शहरत पर रखी हुई थी साफ पता चलता था कि ये कोई डाकू थे जिन्होंने उस काफिले को नींद में दबोच लिया था और इन्हें हथियार उठाने की मोहलत नहीं दी थी वो लड़कियों को ले जाना चाहते थे जिसमें कोई शक ही नहीं था वो अबू जंदल और शमीर अबलग से कुछ पूछ रहे थे लड़कियां उन दोनों आदमियों की गिरफ्त में तड़प रही थीं पहरे वाले सिपाही ने अपनी कमान में एक तीर डाला फासला बीस बाईस गज होगा उसने तीर खींचकर जो छोड़ा तो वो एक आदमी की गर्दन में उतर गया उस आदमी ने एक लड़की को पकड़ रखा था उसने फौरन लड़की को छोड़ा और अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रखे सिपाही ने बड़ी तेजी से कमान में दूसरा तीर डाला और जिस आदमी ने दूसरी लड़की को पकड़ा हुआ था उसको शुस्त में लेकर तीर छोड़ दिया उसका निशाना बेखता था तीर अपने शिकार के गाल के एक तरफ लगा और दूसरी तरफ बाहर हो गया उसने भी लड़की को छोड़ा और अपने मुंह पर हाथ रख लिए सिपाही ने इसी तेजी से तीसरा और चौथा तीर चलाया और उसका एक तीर भी खाली ना गया डाकुओं में हड़बूंग बपा हो गई उन्हें यह तो पता ही नहीं चल रहा था कि तीर किस तरफ से आ रहे हैं उनकी हड़बूंग से काफिले वालों को हथियार उठाने का मौका मिल गया इधर से सिपाही तीरंदाजी कर रहा था उसने चार आदमियों को मार लिया तीन डाकू बच गए थे उन्होंने जब देखा कि अबू जंदल शमीर अबलक और बाकी तीन सिपाहियों ने तलवारें और बर्छियां उठा लीं तो वो तीनों बहुत तेजी से दौड़ पड़े उनका ताकुब किया गया लेकिन वो कूदकर घोड़ों पर सवार हुए और एल लगा दी घोड़े हवा से बातें करने लगे इस तरह डाकू अपने पांच साथियों की लाशें और पांच घोड़े छोड़कर भाग निकले मेरे दोस्तों अबू जंदल ने कहा हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं लेकिन मालूम होता है कि कोई और भी हमारी मंजिल के करीब आ गया है मैं बता नहीं सकता कि कब क्या होगा लेकिन डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं अलबत्ता पूरी तरह होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है हर वक्त हथियार पास होना चाहिए और एक हाथ अपने हथियार पर रखो तो खतरे की सूरत में बच सकोगे और तुम दोनों लड़कियां सुन लो तुम किसी सुल्तान शहजादे के हरम की लड़कियां नहीं हो जिनका काम सिर्फ यह होता है कि अपने आका को खुश रखें तुम मेरी भतीजियां हो अपने बाप को याद करो वो बड़ा जर्री और जाबिर मर्द था तुम तयजनी जानती हो अगर कोई ख़तरा आ पड़ा तो मर्दों की तरह लड़ना है औरतों की तरह डरना नहीं यह तो हम नींद में पकड़ी गई थी एक लड़की ने कहा मैं नींद से हड़बड़ाकर उठी तो एक आदमी ने मेरे बाजू पीठ पीछे जकड़ लिए थे अगर हम दोनों बेदार होती और हम पर डाकू हमला करते तो फिर तुम देखते कि हम क्या कर सकती हैं अबू जंदल ने उन्हें कहा कि फौरन कूच करो ताकि हम शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुंच जाएं। सूरज गरूब होने में अभी दो अढ़ाई घंटे बाकी थे जब वो उस खत्े पर पहुंच गए जो उनकी मंजिल थी वो भी बेआबो गया खिता था वो वैसा ही था जैसा ये लोग पहले एक जगह देख आए थे सिलों वाली गहरी स्लेटी रंग की चट्टानें थीं और कुछ ऊंची पहाड़ियां भी थीं और पथरीली टेकरियां भी थीं लेकिन वहां घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी यूं लगता था जैसे उन चट्टानों और पहाड़ों से आग की तरह सूरज की तपिश खारिज हो रही हो हवा बहुत तेज चल रही थी जो तेज ही होती चली जा रही थी ये जब सिलों वाली चट्टानों से टकराकर गुजरती थी तो हल्की हल्की चीखें सुनाई देती थीं जो इंसानी चीखों जैसी थीं कभी तो यूं लगता था जैसे औरतें और बच्चे इन पहाड़ों के अंदर कहीं किसी मुसीबत में पड़े हुए हों और चीख चिल्ला रहे हैं यह खत्ता भी बदरूहों का मस्कन लगता था यह सारा माहौल दिल पर घबराहट और खौफ का तासुर पैदा करता था लेकिन अबू जंदल का चेहरा पुरसकून था और उसका अंदाज ऐसा जैसे वो यहां जरा सा भी अजनबियत महसूस ना कर रहा हो अब जरा होशियार रहना शमीर अबलक अबू जंदल ने कहा हमें इधर उधर घूम फिर कर और अच्छी तरह देखभाल करके अंदर जाना चाहिए था लेकिन इतना वक्त नहीं रात आ गई तो मशलों के बावजूद हमारा काम मुश्किल हो जाएगा मैं तुम सबको सीधा अंदर ले जा रहा हूं अब जो होता है होता रहे मुकाबला करेंगे बात जरा साफ करो अबू जंदल शमीर अबलक ने कहा वो खतरा है कैसा जो तुम महसूस कर रहे हो मुझे अल्फाज में बता दो ताकि मैं उसके मुताबिक खुद भी तैयार रहूं और अपने इन सिपाही साथियों को भी तैयार रखूं आसमान से कोई आफत नहीं गिरेगी अबू जंदल ने कहा यह खतरा इंसानों का ही होगा वो जो तीन आदमी जिंदा निकल गए थे वो कहीं दूर नहीं चले गए हैं यहीं कहीं होंगे और वो यहां आ सकते हैं आने दो शमीर अबलक ने कहा आने दो उन्हें अब हम सोए हुए नहीं होंगे चलो आगे अबू जंदल आगे आगे था वो चट्टानों की भूल भुलैयों में दाखिल हो गया बाकी सब पीछे एक कतार में जा रहे थे अब उनके पास फालतू घोड़े साथ थे वो डाकुओं के घोड़े भी अपने साथ ले आए थे अबू जंदल कभी दाएं मुड़ता कभी बाएं मुड़ता और ये लोग भूल ही गए कि वो किधर से आए हैं और कितने मोड़ मुड़ चुके हैं सिर्फ अबू जंदल रास्ते से वाकिफ था और उसे यह भी मालूम था कि वापस किस तरह आना है वहां अंदर छोटी बड़ी बेशुमार चट्टानें थीं उनके साथ ऊंची पहाड़ी थी हवा की चीखें और बुलंद हो गई थीं आखिर जगह ऐसी आ गई कि दाएं तरफ ऊंची पहाड़ी थी और उसके दामन से जरा हटकर लंबी चट्टान थी और उनके दरमियान घोड़े गुजारने के लिए कुछ जगह थी पचास साठ गज आगे ये चट्टान पहाड़ी के दामन से मिल जाती थी और वहां एक बड़ी बुलंद चट्टान ने रास्ता रोक लिया था अबू जंदल आगे ही आगे बढ़ता गया और वहां तक पहुंच गया जहां रास्ता बंद हो जाता था वो घोड़े से उतरा और सबको उतरने के लिए कहा और ये भी कि घोड़े कहीं छोड़ दें आगे देखा कि यह रास्ता इस तरह नीचे को चला गया था जिस तरह किसी इमारत के तहखाने में सीढ़ियां उतरती हैं अबू जंदल ने सिपाहियों से कहा कि वो मशालें जलाकर नीचे आ जाएं। वो शमीर अबलक और लड़कियां नीचे उतर गईं और सिपाहियों ने मशालें जलाईं और उनके पीछे पीछे नीचे चले गए वो आठ दस गज नीचे चले गए ये तहखाने की तरह बना हुआ एक गार था जिसकी छत बीस पच्चीस गज ऊंची थी और ये गार बहुत ही कुशादा था गार की छत से चट्टानों के लंबूतरे और अजीबोगरीब गरीब टुकड़े लटक रहे थे जो ही मशलें अंदर दाखिल हुई बड़ी ही जोर से ऐसी आवाज़ आई जैसे तूफान आ गया हो और उसके साथ चड़चड़ाहट की आवाज़ें आईं जो एक शोरगुल की तरह बुलंद होती चली गई ये चमकाडर थे जो गार के अंदर से उड़कर बाहर निकल गए थे ये चंदेक नहीं बल्कि सैकड़ों थे अबू जंदल ने बुलंद आवाज़ से अपने साथियों से कहा कि ये चमका डरे हैं इनसे डरे नहीं उस गार के फर्श पर भी चटानें थीं जिनकी ऊंचाई दो गज या तीन गज थी मशलों की रोशनी में एक तरफ एक और गार का दहाना सा नजर आया अबू जंदल उसमें दाखिल हो गया यह दहाना तो इतना कुशादा नहीं था लेकिन अंदर जाकर देखा गार खासा कुशादा होता चला जा रहा था मशलों की रोशनी खासी ज्यादा थी और अंदर कंकरियां भी नजर आ रही थी पच्चीस तीस कदम हो गए होंगे कि आगे एक और दहाना नजर आया अबू जंदल उसमें दाखिल हो गया और अब ये लोग एक और गार में चले गए थे अबू जंदल ने कहा कि मशलें आगे लाओ मशलें आगे गईं तो सबने देखा कि वहां तीन बक्स रखे हुए थे जो लकड़ी के बने हुए थे और उन पर लोहे की मजबूत पतरियां चढ़ी हुई थीं ये लो शमीर भाई अबू जंदल ने कहा यह है मेरे बाप की और मेरी कमाई ये खजाना अब सिर्फ मेरा नहीं हम सबका है उसने सिपाहियों से कहा मशीनें लड़कियों को दे दो और ये बक्स उठाओ सिपाही आगे बढ़ गए एक बक्स को उठाने लगे तो शमीर अबलक ने कान खड़े कर लिए और अबू जंदल से कहा कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी अबू जंदल ने उसे कहा कि उसके कान बज रहे हैं यहां कोई और नहीं आ सकता अबू जंदल अभी यह बात कह ही रहा था कि गार में आवाज़ आई इन संदूकों से पीछे हट जाओ सबने चौंक कर उधर देखा एक आदमी जिसने मुंह और चेहरे काले रंग की पकड़ी में लपेट रखा था हाथ में तलवार लिए खड़ा था सबने तलवारें निकाल ली देखते ही देखते गार में दस बारह आदमी आ गए उन सब के सर और चेहरे काली पकड़ियों में लिपटे हुए थे सबके हाथों में तलवारें थीं सब पीछे खड़े रहो दोस्तों अबू जंदल ने आगे बढ़कर उन डाकुओं से कहा तुम जिंदा इन संदूकों तक नहीं पहुंच सकोगे और जब तक हम जिंदा हैं इन संदूकों को हाथ तक नहीं लगा सकोगे अबू जंदल काली पगड़ी वाले एक आदमी ने कहा तुम भी हम में से हो और हम तुम्हें जानते हैं हम नहीं चाहते कि तुम हमारे हाथों मरो ये संदूक और दोनों लड़कियां यहीं छोड़ जाओ और खुद को और अपने साथियों को जिंदा ले जाओ ओह ये तुम हो अबू जंदल ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा मेरा ख्याल था कि तुम सब मारे गए हो या किसी और तरफ निकल गए हो न तुम हमारे हाथों मरो ना हम तुम्हारे हाथों मरना चाहते हैं इन संदूकों में जो कुछ है आओ बराबर बराबर बांट लेते हैं ये माल उसका है जिसके पास ताकत है काली पगड़ी वाले ने कहा हम तुम्हें बातों का वक्त नहीं देंगे हम सारा माल ले जाने आए हैं अबू जंगल ने शमीर अबलक को इशारा किया और उसके साथ ही उन दोनों ने और चारों सिपाहियों ने और लड़कियों ने भी डाकुओं पर हमला कर दिया डाकू तैयार थे वो तो लड़ने और मरने आए थे फिर उस गार में तलवारें टकराने की आवाज़ें आती रहीं जख्मी गिरते रहे खून बहता रहा मशालें ज़मीन पर पड़ी जल रही थीं दो तीन जख्मी जलती हुई मशालों पर गिरे और उनके कपड़ों को आग लग गई वो उठकर इधर उधर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे लेकिन नाकाम रहे वो पहले ही जख्मी थे फिर कपड़े जलकर उनके जिस्मों को जलाने लगे तो वो जल्दी ही बेहोश होकर गिर पड़े इतने में तीन चार और जख्मी मशलों पर गिरे और उसी अंजाम को पहुंचे लड़ने वाले लड़ते लड़ते मशलों पर आए तो उनके कपड़ों को भी आग लग गई गार में अगर किसी को फतेह हासिल हुई तो वो आग को हुई थी अंदर आग के शोले थे और गार धुएं से भर गया था कुछ तो तलवारों के जख्मों से मर गए और जो जख्मों से ना मरे उन्हें मशलों की आग ने मार डाला और थोड़ी ही देर बाद गार में सिर्फ शोलों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी काफिलों से लूटा हुआ खजाना मौत के हाथ आया